और हमने इस कुरान मजीद को जुदा जुदा करके नाजिल किया है ताकि आप लोगों के सामने इसे ठहर ठहर कर पढ़ें और हमने इसे नाजिल किया बतदरीज नाजिल करना